मुनि सुन रघुबेर कृपा शंकर मानस जात जातौ बिरंच के धाम मनौ श्रवण बन है राम चितवत पंथ रहूँ दिन राति अब प्रभु देख जुड़ानी छाते नाथ सकल साधन में ही नाम कृपा जानी जन दी नाम मुनि ने कहा हे कृपालु रघुवीर हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई हे नाथ मैं सब साधनों से हीन हूँ आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है सो कछु देवन मोहिनी हो राम निजपन राखे जन मन चो राम तब लगी रहूँ दीन हित लागे जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्याग योग यज्ञ जप तप व्रत के नाम प्रभु कह दे भगत बरली नाम यही विधि सर रच मुनि सर भंगा बैठे हृदय छाण सब संगा हे देव यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है हे भक्त मंचोर ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ तप जप जो कुछ व्रत आप आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद श्याम मम ही अब सहु निरंतर सगुण रूप श्री राम हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए अस कही जोग जगन राम अस कही जोग यगन तनुजाराम राम कृपा बैकुंठ सिधाराम ताते मुनि हरिली नन भय प्रथम ही भेद भगति बर लय ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भय निज हृदय विषेखी अस्तुति करहि सकल मुनि वृंद गोविन्दा जयति करुणा कंदा ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर वर ले लिया था ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो पुनि रघुनाथ चले बनयागे मुनिबर वृंद विपुल संगला लागे अष्ट समूह देखि रघुराया पूछे मुनि न लागियति यति दाया जानत हो पूछिय कस स्वामी सब दर से तुम अंतर जामी निश्चर निकर सकल मुनि खाए सुन रघुबीर नयन जल छाए फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई उन्होंने मुनियों से पूछा मुनियों ने कहा हे स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं यह सुनते ही श्री रघुवीर ने के नेत्रों में जल छा गया उनकी आँखों में करुणा के आंसू भर आए न करो मही भुज उठाई पन के सकल मुनिन के आश्रम हे जाय जाय सुख दे श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसी से रहित कर दूंगा फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया